महर्षि दयानंद ने आर्यभिविनय में परमात्मा के बहुत से संबोधन दिए पिछले दिनों जिस संबोधन पर हम ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो है हे अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण अद्वितीय अनुपम इन दो शब्दों पर पीछे ध्यान केंद्रित कर चुके हैं आज जगदादि कारण इस पर केंद्रित होते हैं परमात्मा जगदादि कारण है तो हे जगदादि कारण जगत के आदि कारण जगत के मूल कारण जगत के प्रथम कारण जगत अर्थात ये जो हमें दिखाई देता है जो गतिशील है जिसमें हम अभी रह रहे हैं इस समस्त संसार गतिशील जगत इसमें लोक लोकांतरों से लेकर के हमारी ये विशाल पृथ्वी और इस पर चलने वाले विभिन्न प्राणी गतिशील प्राणी जीव जंतु उनके शरीर आदि ये सब जगत के अंदर आएंगे जगत का अर्थ ही होता है जो गतिशील है जो लगातार गतिशील है ठहरा हुआ नहीं है इस गतिशील जगत में हम आत्माएं हैं विभिन्न शरीरों को धारण किए हुए और हमारा सबसे अधिक संबंध इसी जगत के साथ में व्यवहार काल में होता है जगत की वस्तुओं को उपयोग में ला करके हम अपने इस जीवन को चला रहे हैं जिस जीवन को हम अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं जिस जीवन को चलाए रखने के लिए हम सर्वाधिक प्रयत्न करते हैं जिस जीवन से हमें बड़ी आशाएं हैं इस जीवन को बनाए रख के मैं उन्नति कर सकता हूं सुखों को प्राप्त कर सकता हूं जो कार्य करना है वो कर सकता हूं तो जिस जीवन के प्रति हम सर्वाधिक संवेदनशील है जिसकी सुरक्षा में हम सर्वाधिक प्रयत्नशील है जिसकी हानि के प्रति हम सबसे अधिक संवेदनशील हैं जिसकी हानि को बचाने के लिए हम सर्वप्रथम प्रयत्न करते हैं ऐसा ये हमारा जीवन जिस जगत पर आश्रित है जिन वायु जल आदि पर आश्रित है जिस पृथ्वी पर आश्रित है जिन पेड़ पौधों पर आश्रित है वो सारा जगत हमारे जीवन का जो आधार स्थूल रूप से हमें दिखाई देता है जिसमें हम चलते हैं प्रयोग करते हैं व्यवहार जिसके साथ होता है उसके प्रति हमारा लगाव आकर्षण प्रीति स्वाभाविक है लेकिन उसके साथ ये विचार भी उठता है कि इस सब को करने वाला कौन है ये जगत है तो इसका कोई कारण भी होगा किसी ने इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया होगा तो जब हम जड़ जगत की तरफ दृष्टि डालते हैं तो ये उत्पन्न हुई वस्तुएं किसी मूल कारण से अवश्य बनी होंगी इनका कोई उपादान कारण अवश्य होगा ये हमें विचार विमर्श से निश्चय होता है कोई भी कार्य वस्तु किसी अन्य द्रव्य से बनी होती है और अंततः कोई ऐसा तत्व होगा जो नित्य है जो बना नहीं है उससे ये जगत बना है तो संसार का आदि कारण क्या है संसार का कारण क्या है ये जिज्ञासा मानव में बहुत स्वाभाविक है और जो भी विचारशील है उसके मन में ये चिंतन चलेगा वो खोज करेगा चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो चाहे वैज्ञानिक हो भौतिकवादी हो जो भी बुद्धि से काम लेगा मनन करेगा वो इस बिंदु पर आएगा इसका कारण क्या है जो इंद्रिय भोगों तक सीमित हैं अपने सुख तक सीमित हैं तृष्णाओं में ही पड़े हैं उनकी दृष्टि इस ओर ना जाए ये हो सकता है लेकिन जो भी इन विषय भोगों से थोड़ा उपरत होता है भले ही कुछ देर के लिए होता है बुद्धि का उपयोग करता है तो ये प्रश्न आएगा तो इस स्थूल जगत का मूल कारण कोई होना चाहिए जड़ पदार्थ क्योंकि ये भी जड़ है तो मूल प्रकृति तक हम पहुंचते हैं शास्त्र भी बताते हैं और हमें भी विज्ञान को भी ये लगता है कोई मूल तत्व तो होना चाहिए जो कि नित्य है अविभाज्य है तो क्या उसे ही इस जगत का कारण और अधिकारण मान लिया जाए तो एक दृष्टि से कहा जा सकता है क्योंकि यदि वो नहीं होता तो ये जगत बन ही नहीं सकता मिट्टी ना हो तो घड़ा बन ही नहीं सकता भले ही कुमार हो भले ही पानी हो भले ही चाक हो बिना मिट्टी के कुम्हार भी नहीं बना सकता तो इस जगत का मूल आदि कारण प्रकृति मूल तत्व जड़ पदार्थ माने जा सकते एक दृष्टि फिर जब व्यक्ति और विचार करता है कि ये जगत बना ठीक है इसका मूल कारण आदि कारण जड़ पदार्थ प्रकृति को मान भी लें लेकिन ये प्रकृति जड़ पदार्थ एक कार्य रूप में बदला क्यों ये है किसके लिए क्या इसमें संवेदना है ये अपने लिए है क्या इस जड़ पदार्थ का अपना कोई प्रयोजन था जिसके लिए उसने अपने को इस कार्य रूप में परिणत किया इसने अपने को स्वयं परिणत किया हो या दूसरे ने इसको इस रूप में बनाया हो जो भी हो लेकिन क्या इस मूल प्रकृति का अपना कोई प्रयोजन है या ये कार्य जगत कुछ अपने प्रयोजन के लिए बना है घर भले ही ईंट और सीमेंट से मिट्टी से बना हो घर का मूल कारण मिट्टी आदि को स्वीकार किया जाए लेकिन उससे पहले उसमें रहने वाला जिसके लिए वो घर बना है उसका अस्तित्व हमें मानना होता है घर स्वयं अपने लिए नहीं बना या घर घर के लिए किसी के द्वारा नहीं बनाया गया तो प्रश्न आता है कि क्या मिट्टी ईंट आदि को इस भवन का मूल कारण आदि कारण मान लें अथवा उस घर में जो रह रहा है उसे मूल कारण माने तो विचारशील व्यक्ति को लगेगा नहीं जो रहने वाला है वो इसका कारण है यदि वो नहीं होता तो ये भवन कौन बनाता और क्यों बनाता तो आत्मा पर ध्यान जाता है जो इस शरीर का निवासी है जो इस शरीर का उपयोग करता है जो इस जगत का कार्य जगत का उपयोग करता है और आत्मा के लिए यह बना है तो क्यों ना आत्मा को इस जगत का आधिकारण मान लिया जाए कुम्हार घड़े को बनाता है मिट्टी उसका एक कारण आदि कारण प्रतीत होता है लेकिन घड़ा बना तो इसलिए है क्योंकि उस घड़े का उपयोग करने वाले कोई है घड़ा खरीदने वाला कोई ना हो तो कुम्हार मिट्टी से घड़ा कभी नहीं बनाएगा यदि उसका कोई उपयोग ही ना हो तो ये जगत बना क्यों इसका मूल कारण क्या है प्रतीत होगा आत्मा इसका मूल कारण है तीन मूल चीजें हैं ईश्वर जीव और प्रकृति वो द्रव्य जिससे ये बना है वो द्रव्य जिसके लिए ये बना है और वो द्रव्य जिसने इसे बनाया है तो दूसरी दृष्टि से इस जगत का आदि कारण आत्मा प्रतीत होगा और इसके साथ हम जब जगत की भिन्नता देखते हैं शरीरों की भिन्नता देखते हैं तो साथ में आत्मा की कारणता और प्रतीत होती है किसी ने आत्माओं को ले करके और प्रकृति को लेकर के ये सारा बना दिया हो अपने किसी प्रयोजन से आत्मा का उसमें कोई लेन देन ना हो बस बना दिया तो जगत की विचित्रता को देख के पता लगता है कि कुछ कारण है जिससे ये सृष्टि का वैचित्र है और वो अंत में हम पहुंचते हैं कर्मों तक हर आत्मा के अपने अपने कर्म हैं जिसके अनुसार वो विभिन्न शरीरों को विभिन्न योनियों को प्राप्त करता है अर्थात इस जगत की जो रचना है इसमें जो वैचित्र है इसकी विचित्रता का एक आधार आत्मा के कर्म है तो कर्म आत्मा के हैं इस दृष्टि से आत्मा ही इसका अधिकारण है भले ही हम परंपरा से कर्म तक पहुंच जाए लेकिन कर्म आत्मा ने किए थे और कर्मों का फल आत्मा को मिलना है इसलिए आत्मा ही इस जगत का आदि कारण है यदि आत्माएं नहीं होती तो परमात्मा मूल प्रकृति होते हुए भी ये जगत बन सकता था क्या किस लिए बना था परमात्मा परमात्मा न्यायकारी है और ये उसका स्वभाव है सृष्टि रचना उसका स्वभाव है उसको बदल नहीं सकता ये एक विचार होता है परमात्मा इसलिए इसका आदि कारण नहीं हो सकता आत्माएं हैं कर्म की स्वतंत्रता आत्मा के पास में है और फल भी उसी कर्म की स्वतंत्रता के आधार पर ही मिल पा रहा है हमें इसलिए जगत का आदि कारण मूल कारण आत्मा उसके कर्म ये हमें प्रतीत होने लगेंगे तीसरी बात कि आत्मा ने कर्म किए कर्म कहां किए कर्म पहले या उसका फल पहले तो पहले कर्म और फिर उसका फल तो कर्म कहां किए आत्मा ने तो पिछले जन्मों में किए पिछली सृष्टि में किए हम तो इसी खोज में हैं कि ये जगत बना कैसे इसका आदि कारण क्या है आत्मा के कर्म इस जगत के बनने में कारण है आत्मा कारण है लेकिन वो कर्म आए कहां से वो बने कब थे तो कर्म उससे पहले की सृष्टि में बने थे अर्थात इसी जगत में बने थे तो कर्म पहले या जगत पहले तो ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना जगत के कर्म हो जाए तो दृष्टि से प्रश्न उठ जाएगा कि आत्मा या आत्मा के कर्म इस जगत के आदिकारण कैसे हो सकते हैं तो फिर तीसरी बात आएगी तीसरा तत्व जो जगत का कारण जैसे घड़े को बनाने के लिए कुम्हार ऐसे इस जगत को बनाने वाला रचयिता परमात्मा प्रकृति अपनी जगह है मूल प्रकृति आत्माएं भी अपनी जगह पे हैं आत्माओं को शरीर के बिना कुछ ज्ञान नहीं है मूर्छित हैं उनकी कोई उस समय ऐसी इच्छा नहीं कि हम जन्म लें और कुछ करें वो इच्छा कर ही नहीं सकते हम मुक्ति को प्राप्त करें वो इच्छा कर ही नहीं सकते तो परमात्मा जो इस जगत को बनाता है भले ही इस जगत को उसने आत्माओं के कर्मों के अनुसार बनाया है लेकिन बनाने वाला परमात्मा है बनाने वाला ना हो तो प्रकृति और आत्मा मिलके कुछ नहीं कर सकते तो इस दृष्टि से हमें प्रतीत होगा कि परमात्मा इसका आदि कारण है तत्व की दृष्टि से ये तीनों तत्व अनादि हैं नित्य हैं मूल है सत्ता की दृष्टि से सत्ता की दृष्टि से देखने लगे तो तीनों में से कौन आदि कारण है इस जगत का तो तीनों ही आदि कारण है तीनों में से एक भी ना हो तो ये जगत नहीं बन सकता इस दृष्टि से ये तीनों जगत के आदि कारण है द्रव्य की दृष्टि से इस दृष्टि से तीनों में समानता है इसमें कैसे भेद करेंगे हम सत्ता की दृष्टि से तीनों अनिवार्य हैं एक भी ना हो तो ये जगत नहीं बन सकता तो सत्ता की दृष्टि से तीनों चीजें जगत के आदि कारण हैं ये कथन किया जा सकता है लेकिन यदि फिर भी हम इस खोज में हो कि इन तीन में भी कौन प्रमुख कारण है कौन आदि कारण है ये निर्णय भी हमें करना होता है जैसे जैसे व्यक्ति और खोज में जाता है और चिंतन करता है तो आखिर ये हुआ कैसे तो इन तीनों की सत्ता होते हुए भी इन तीनों में से जिसकी प्रथम प्रवृत्ति से ये जगत बना उसे जगत का आदि कारण मानना चाहिए प्रकृति अपने आप प्रवृत्त नहीं हो सकती इसलिए उसकी प्रथम प्रवृत्ति का प्रश्न नहीं उठ सकता तीनों में से जो प्रथम प्रवृत्त हुआ इस जगत को बनाने के लिए वो इस जगत का आदि कारण है प्रकृति स्वयं प्रवृत्त हो नहीं सकती इसलिए प्रकृति जगत का प्रथम आदि कारण नहीं हो सकती सत्ता के रूप में भले ही आदि कारण हो और आत्मा बिना प्रकृति और बिना साधनों के बिना उपकरणों के प्रवृत्त हो नहीं सकता इसलिए वो भी जगत का आदि कारण नहीं कहला सकता मात्र परमात्मा है जो प्रथम ईक्षण करता है प्रथम इच्छा करता है और प्रवृत्त होता है प्रवृत्ति करता है परमात्मा इच्छा करने के लिए बाध्य नहीं है परमात्मा जड़ वस्तु की तरह से बाध्य नहीं है कि उसे यंत्रवत कुछ करना ही है जैसे आत्मा का स्वभाव होते हुए भी ज्ञान का सुख दुख का इच्छा द्वेश प्रयत्न का स्वाभाविक धर्म होते हुए भी कर्म की स्वतंत्रता उसके पास में है और ये चेतन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कर्माशय की दृष्टि से अन्य प्राणियों में कर्म की स्वतंत्रता न स्वीकार की जाती हो लेकिन वैसे व्यवहार की छोटी छोटी क्रियाओं के लिए कर्म की स्वतंत्रता वहां पर भी है अपने अपने शरीर के अनुसार न्यूनाधिक रूप से तो चेतन के साथ में उसकी स्वतंत्रता कभी ना कभी अवश्य रहेगी और ये स्वतंत्रता परमात्मा की भी है अनेक बार हम ये सोचने लगते हैं कि परमात्मा तो सृष्टि रचयिता है उसे तो सृष्टि रचनी ही होगी बिना सृष्टि रचे वो रह नहीं सकता बिना न्याय किए वो रह नहीं सकता जीवात्माओं के उपकार की सोचे बिना वो रह नहीं सकता इसलिए उसे तो करना है और ऐसा कहते हुए हम परमात्मा को जड़ या परतंत्र के रूप में विचारने लग जाते हैं जनसामान्य ऐसा बोलता भी है जब हम ये बात करते हैं शरीर परमात्मा ने क्यों दिया क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे कर्म के अनुसार फल दिया है तो जो एक पक्ष में सोचते हैं या अहंकार से युक्त है परोक्ष रूप से ईश्वर में विश्वास उस तरह का नहीं है तो तत्काल बोलते हैं तो इसमें परमात्मा का क्या महत्व है हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिला है और जो मिला है वो हमने किया है ये हमारी मेहनत का फल है अच्छा या बुरा तो इसमें परमात्मा के प्रति कृतज्ञता की आवश्यकता क्या है हम क्यों परमात्मा को माने अब ये ये मेरे कर्मों का फल है ये मैंने किया है उसके अनुरूप आया है अपनी जगह बात ठीक है पर परमात्मा को आदि कारण न मानने पर ये मानसिकता सहजता से आ जाएगी और परमात्मा के प्रति जो भाव होना चाहिए जो श्रद्धा होनी चाहिए वो कम हो जाएगी समाप्त हो जाएगी सब कुछ कर्मों के अनुसार मिलता है प्रार्थना से कुछ मिलता नहीं है परमात्मा के मानने न मानने पर कोई अंतर नहीं आता जब हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कर्मों के अनुसार हमें सब कुछ मिलना ही है परमात्मा का स्वभाव है वो अपने कर न्याय के अनुसार और हमारे कर्म के अनुसार वैसा ही देगा तो क्या परमात्मा के मानने और न मानने का इस पर अंतर पड़ेगा हमारे फल प्राप्ति पर तो हम सहजता से बोलते हैं कि हम परमात्मा को माने या ना माने परमात्मा तो अपने कर्तव्य को पूरा करेगा अपने हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देगा तो तत्काल बात आएगी कि जब परमात्मा के मानने न मानने का इस पर कोई अंतर नहीं आ रहा है मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है तो परमात्मा को मैं क्यों मानू मुझे अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना है बस कर्म करने हैं फल अपने आप मिलेगा परमात्मा अपने आप देगा ये एक अलग स्तर होता है ये एक अलग भावना होती है लेकिन परमात्मा की जो ये प्रवृत्ति है फल देने की जीवात्माओं का हित करने की ये प्रवृत्ति परमात्मा की स्वतंत्रता से है परमात्मा न्यायकारी स्वभाव वाला है लेकिन वो बाध्य नहीं है इससे उसको हम बाध्य परतंत्र मान करके उसकी न्यायकारिता को कोई उपकार न माने सृष्टि रचना उसका स्वभाव है ये मान करके उसका कोई उपकार न माने ये नहीं हो सकता ये अध्यात्म मार्ग में नहीं चलेगा और ऐसा व्यक्ति परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं होगा वो पूरी भावना नहीं बना सकता वो प्रकृति तक ही सीमित रहेगा और प्रकृति का उपयोग केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए ही करेगा वहीं टिक जाएगा आध्यात्मिक व्यक्ति को धार्मिक व्यक्ति को परमात्मा आदि कारण दिखना चाहिए समझ में आना चाहिए मूल प्रकृति के रहते हुए भी आत्मा के और उसके कर्मों के रहते हुए भी परमात्मा की प्रथम प्रवृत्ति इस जगत का कारण है हर सृष्टि का हर प्रलय का कारण परमात्मा की प्रथम प्रवृत्ति है इसलिए परमात्मा इसका आदि कारण है हम परमात्मा पर यह अधिकार नहीं जता सकते परमात्मा को हम बाध्य नहीं कर सकते कि मेरे ये कर्म है और आपको इसका फल देना ही है आपको मेरे कर्मों का फल देना पड़ेगा ऐसा कोई आत्मा परमात्मा को बाध्य नहीं कर सकती आत्मा तो प्रकृति को भी बाध्य नहीं कर सकती मूल प्रकृति को और कार्य जगत को जो हम बाध्य करते हैं विभिन्न प्रयासों से हवा को विशेष प्रकार से चला लेते हैं पानी को विशेष जगह रख लेते हैं ये सब परमात्मा की सहायता से दिए हुए साधनों से प्रकृति के साधनों से हम प्रकृति को एक सीमा तक नियंत्रित कर पाते हैं बाध्य कर पाते हैं लेकिन वैसे हम स्वयं अपने सामर्थ्य से प्रकृति को बाध्य नहीं कर सकते तो चेतन परमात्मा को सर्वशक्तिमान परमात्मा को तो हम बाध्य कर ही नहीं सकते तो हम इस जगत के आधिकारण कैसे हो सकते हैं हमारे कर्म इस जगत के आधिकारण कैसे हो सकते हैं परमात्मा की कृपा परमात्मा की जीवात्माओं के हित की कामना ये इस जगत का अधिकारण है कोई भी कर्म बिना इच्छा के नहीं होता इच्छा बिना ज्ञान के नहीं होती परमात्मा ज्ञान स्वरूप है उस ज्ञान के अनुकूल उसे पता है किससे क्या किया जा सकता है और किसका क्या हित किया जा सकता है तद अनुरूप वो इच्छा करता है ईक्षण करता है और प्रवृत्त होता है और हम इस जगत में आते हैं मुक्ति के बाद में भी जो जीवात्माएं आती हैं उनके जन्म का कारण परमात्मा की शुद्ध कृपा है हमारे कर्मों का प्रवाह कब से प्रारंभ होता है जब से हम मुक्ति से आते हैं तो पिछले कर्म भी हमारे जन्म के कारण नहीं है ये तब होते हैं जब एक बार जन्म होने के बाद में मुक्ति से पहले के काल में जन्म मरण हमारा कर्मों के अनुसार चलता है लेकिन मुक्ति से जो प्रथम जन्म होता है उसमें कर्म भी कारण नहीं है हम किस अधिकार से कह सकते हैं कि मेरे को कर्मों का फल ईश्वर दे उसे देना चाहिए ईश्वर का वहां न्याय भी कोई काम नहीं करेगा क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने कर्म किए थे वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है हम मुक्ति को प्राप्त कर सक कर चुके हैं इसलिए वो सब कर्म समाप्त हैं जिस उद्देश्य से कर्म किए यात्रा की वो प्राप्त हो गया है वो सब समाप्त एक अध्याय समाप्त तो मुक्तात्मा ये भी नहीं कह सकती कि हे भगवान आप न्यायकारी हैं तो मेरे कर्मों का फल दीजिए आपको देना है कर्म ही नहीं है तो न्याय की बात ही कहां आएगी हमारे कर्मों का संग्रह भी प्रारंभ में परमात्मा की कृपा से ही हो पाता है इसलिए परमात्मा जगत का आदि कारण है तो विचारशील होते हुए जब हम प्रकृति को या आत्मा को जगत का आदि और मूल कारण मान लेते हैं तो हमारा एक पक्ष ये अधूरा रह जाता है ये अंधेरा रहता है लेकिन जब हम परमात्मा को आदि कारण मान लेंगे तो जो हमारा अपने प्रति अहंकार है अपने कर्मों के प्रति अहंकार है अधिकार की भावना है वो कम हो जाएगी और परमात्मा के प्रति ही हम समर्पित होंगे वो ही आदि कारण है नहीं तो ये कुछ नहीं हो सकता था अनेक मूल कारण होते हुए भी उन सब कारणों में भी मूल कारण आदि कारण वही परमात्मा है महर्षि ने जो ये संबोधन दिया हे अद्वितीय अनुपम जगदाधिकारण इनके तीन शब्दों को हमने अलग अलग ढंग से देखा अद्वितीय अनुपम और जगदाधिकारण इस पूरे संबोधन को हम एक मान करके भी देख सकते हैं इसमें विशेषण विशेष भाव लाते हुए अंतिम शब्द है जो आज देखा जगत का आधिकारण परमात्मा कैसा जगत का अधिकारण है अद्वितीय जगत का अधिकारण है जगत के कारण और भी हैं आदिकारण और भी हैं लेकिन परमात्मा जगत का अद्वितीय आदिकारण है परमात्मा जगत का अनुपम आदिकारण है उस जैसा आदिकारण कोई नहीं है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती तो इस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं इस पूरे समस्त पद में कारण ये सबसे अंत में है आदि कारण कारण के आगे विशेषण लगा दिया आदि कारण किसका आदि कारण जगत का आदि कारण परमात्मा का आदि कारण नहीं आत्मा का आदि कारण नहीं मूल प्रकृति का आदि कारण नहीं जगत का अधिकारण और कैसा जगत का अधिकारण अनुपम अद्वितीय तो महर्षि संबोधित कर रहे हैं अद्वितीय अनुपम जगदाधिकारण हम जब परमात्मा को ही मूल कारण मानेंगे तो परमात्मा के उद्देश्य को भी समझेंगे परमात्मा ने क्यों ये सृष्टि बनाई प्रयोजन क्या था उस प्रयोजन पर हमारा विचार केंद्रित होगा उसे हम अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे उसके अतिरिक्त कोई लक्ष्य बनाना इस जीवन की व्यर्थता है और जिस प्रयोजन से परमात्मा ने यह बनाया उसके विधि विधान भी उसने दिए हैं हम उसी पर केंद्रित होंगे यदि हम अपने कर्मों को इसका कारण मानेंगे स्वयं को मानेंगे तो हम तो स्वयं जैसे भी चाहते हैं करते रहते हैं उसी तरफ बढ़े रहेंगे जब परमात्मा को आदि कारण मानेंगे तो सब कुछ वहां जाकर के जुड़ जाएगा सारा दिशा निर्देश सारा अच्छा बुरा प्रयोजन लक्ष्य अलक्ष्य सब कुछ परमात्मा के आधार पर निर्धारित होगा परमात्मा अद्वितीय अनुपम जगत का आदि कारण है मन में भाव रखते हुए परमात्मा का स्मरण करेंगे आज रविवार है